कर रहा था आप श्रुतिराप्त वचनम यहाँ पर आप्त वचनम लक्षण निर्देशा परशिष्ट आप्त श्रुति ही ये लक्षण था तो अब शब्द प्रमाण की चर्चा चल रही थी जिस पर उन्होंने कहा श्रुति इनके यहाँ जो ज्ञानात्मक प्रमाण है इसलिए श्रुति से उन्होंने कहा वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञानम कैसे लेंगे तो उन्होंने कहा लक्षित लक्षणा के द्वारा लिया था क्या लिया था लक्ष्य जैसा द्विरूपो रौति में द्विरूप से लक्षित भ्रमर और भ्रमर पद से लक्षित होता जीव विशेष उसी प्रकार श्रुति पद से लक्षित कौन हुआ वाक्य और वाक्य से लक्षित हुआ वाक्य जन्य ज्ञान मैंने श्रुति सामान्य वाक्य को कहेगी और वाक्य कहेगा वाक्य जन्य ज्ञान को एतावता क्या हो गया लक्षित लक्षणा मैंने श्रुत्यालक्षित लक्षित वाक्यम वाक्य लक्षित वाक्यार्थ ज्ञानम जैसा दुरेफ पदेन हम्म। तो जैसे उन्होंने कहा अतः वाक जनित वाक्यार्थ ज्ञान लेना है तच्चा जो वाक जनित वाक्यार्थ ज्ञान है वह स्वतः प्रमाणम अब प्रमाण की जो चर्चा होती है तो स्वतस्तवादी सांख्य है माने एक प्रमा प्रमाण में जो प्रामाण्य है उस प्रामाण्य के विषय में चर्चा करते हैं स्वतस्त का मतलब होता है ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व सामान्य माने भाव सहकृत सामान्य ज्ञान जो सा, जो हमारे सामग्री जन्य ज्ञान का विषय होना एक है और एक है दोषा भाव सहकृत यावत स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व दोषा भाव सागर सामान्य सामग्री ग्राह्यत्व उत्पत्तिकृत उत्पत्तिकृत स्वतस्व है और दोषा भाव सहकृत यावत स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व यह है ज्ञप्तिगत स्वतस्थ दो प्रकार का स्वतस्थ होता है एक उत्पत्तिगत एक ज्ञप्तिगत तो दोनों को सामान्यतः कहना है तो ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व इसका अर्थ होता जिसके द्वारा ज्ञान जिस सामग्री से क्या पैदा हुआ हो ज्ञान पैदा हुआ हो उसी सामग्री से उस ज्ञान में रहने वाला जो सत्यत्व धर्म है उसी क्या बोलते हैं वास्तविकता का इनाम क्या है प्रामाण्य प्रमा प्रमाण से भाव प्रामाण्य प्रमाण माने प्रमा उसमें रहने वाला जो धर्म हुआ कौन प्रामाण्य उस प्रामाण्य का दूसरा नाम उसमें उसका ग्रह मान उसमें वास्तविकता जो ज्ञान है उसी को बोलते हैं प्रामाण्य जिसको याथार्थ कहेंगे याथार्थ कहिए प्रामाण्य कहिए वास्तविकता कहिए सत्यत्व कहिए सब क्या है पर्याय है तो उनका ज्ञान कैसे होता है तो इन्होंने कहा जिस ज्ञान से उसका ज्ञान जिस सामग्री से वाक्यार्थ जन वाक्यार्थ ज्ञान ये प्रमाण हुआ इस वाक्यार्थ ज्ञान से जायमान जो शाब्द बोध वह प्रमा हुई जिस वाक्यार्थ ज्ञान से जायमान शाब्द बोध है उसी वाक्यार्थ ज्ञान से ही क्या वो शाब्द बोध में रहने वाली जो वास्तविकता है जिसको प्रमात्व कहेंगे सत्यत्व उसका भी उसी से ज्ञान होगा इसलिए क्या हो गया स्वतः हो गया नैयायिक ये मानते हैं परता ये कहते हैं जब आदमी यहाँ वाक्य सुना वाक्य सुनने के बाद जब गया वहाँ पर जब जाएगा तो वहाँ देखेगा जब वस्तु मिलेगी तो कहेगा यह जो वाक्यार्थ ज्ञान वास्तविक था क्यों सफल प्रवृत्ति जनकत्वात वाक्यार्थ ज्ञान गलत क्यों था विफल प्रवृत्ति जनकत्वा तो अनुमान के द्वारा उस ज्ञान में रहने वाली वास्तविकता का वो लोग ज्ञान करते हैं वेदांत में सांख्य में और मीमांसा पूर्व मीमांसा में ये क्या मानते हैं स्वतस्तवादी पूर्व मीमांसा में तीन मत हैं एक कुमार भट्ट का है एक मुरारी मत है एक है प्रभाकर का प्रभाकर क्या मानते ज्ञान को स्वप्रकाश मानता क्या मानता है स्वप्रकाश ज्ञान को मानता इसलिए उसके यहाँ घटम घटम हम जानामी यही अयं घटा घटम हम जानामी इत्याकार ज्ञान होता है व्यवसायत्मक ज्ञान उस आत्म ज्ञान से ही क्या होता है ज्ञानगत प्रमात्व का प्रत्यक्ष होता है तो वो लोग क्या मानते हैं वह स्वतः प्रमा क्या मानते ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं वह ज्ञान आत्मा को आश्रयतया प्रकाशित करता है आत्मा को विषयतया घटपट आदि को कर्मतया प्रकाशित करता है इसलिए उनके के मत के अनुसार वह स्वतः प्रामाण्य कार्य कहते हैं अयम घटा घटम हम जानामी इत्या समूहालंबनात्मक जो ज्ञान होता है यही जो व्यवसाय आत्मक ज्ञान है यही क्या करता है ज्ञान ज्ञानगत प्रामाण का ग्रहण करता है और उनके जो मुरारी मिश्र एक है मानसा में वो कहता है अयं घटा घटत्वेन घटम हम जानामी इत्याकारक अनुभवसायात्म न अयं घटगत ज्ञान अघटगत ज्ञानगत जो प्रमात्व है उसका भी कौन प्रत्यक्ष करता है वह अनुव्यवसायत्मक सामग्री से और जो भट्ट है वो कहता है ज्ञातता लिंगक अनुमिति से माने घटक ज्ञानम इति प्रमा क्योंकि तादृश ज्ञातता लिंग ज्ञातता भत्वात पहले अयं घटा यह ज्ञान होगा फिर दूसरा ज्ञान घटो ज्ञाता उस ज्ञाता माने जो ज्ञात उससे एक पैदा होता है ज्ञातता नाम का धर्म किसमें उस ज्ञातता नाम के धर्म के द्वारा फिर उस ज्ञान ज्ञानगत प्रामाण्य का क्या किया जाता अनुमान किया जाता है क्योंकि उनके यहाँ जो ज्ञान है वह सब अतीन्द्रिय है क्या है अतीन्द्रिय है वेदांत में जो ज्ञान है वो साक्षी भाष्य है इसे ज्ञान माने वृत्ति वह किसके द्वारा प्रकाशित होती है साक्षी के द्वारा इसलिए लोग कहते हैं स्वतस्तवादी है और नैयाय क्या है परता है माने क्या परता है तो अनुमान आदि के द्वारा और सांघ को कहते हैं यह स्वतः इसका प्रमाण भी स्वतः है अप्रामाण्य भी स्वतः होता है जबकि अन्य लोग अप्रामाण को परतः मानते हैं परंतु सांख्य लोग क्या कहते हैं प्रामाण अप्रामाण उभय ही स्वतः है क्यों इनके यहाँ सत्कार्यवादी है पहले से उसमें रहता ही है इसलिए प्रमात्व प्रमात्वा प्रमात्व प्रमाणत्वा प्रमाणत्व स्वतः सांख्या समाश्रिता माने जो प्रमाणत्व अप्रमाणत्व है ऐसा अभियुक्तों का वचन है वह स्वतः ही मानते कौन लोग सांख्य लोग इसीलिए सर्वोपम यहाँ केवल एक प्रमाण की बात नहीं है सकल प्रमाणों के विषय में ये तो केवल एक का उदाहरण के रूप में लिखने जाए लिख रहे हैं तच्चा तच्च मान वाक्यार्थ ज्ञानम क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान ही प्रमाण इनके यहाँ इसलिए कह रहे हैं तच्चा वाक्यार्थ ज्ञानम यद स्वतः प्रमाणम मने स्वतः प्रमाण वाक्यार्थ ज्ञानम स्वतः प्रमाणम क्यों स्वतः प्रमाण जैसे वाक्यार्थ ज्ञान स्वतः प्रमाण है वह वृत्ति जो चित्त वृत्ति होता है चेतन वृत्ति जो प्रमा वह प्रत्यक्ष का फल है और बुद्ध वृत्ति जो है वो क्या है व्यापार था मान प्रमाण था ज्ञान था वह भी क्या है स्वतः ही होगा इसलिए उसी प्रकार अनुमानक ज्ञान भी क्या होगा स्वतः होगा इसीलिए उन्होंने कहने जा अनुमानक ज्ञान से स्वतः अनुमानक ज्ञान से जायमान जो प्रमा वाक्यार्थ ज्ञान से जायमान जो प्रमा और बुद्ध वृत्ति ज्ञान से जायमान जो प्रमा ये सब क्या स्वतः ही इनका ग्राह होता है इसीलिए लिखने जा रहे हैं स्वतः प्रामाण कुतः स्वतः प्रामाण्यम उस पर लिखने जा रहे हेतु दे रहे हैं अपौर से वेदवाक न क्योंकि जो अपौर से अब ये भी क्या मानते हैं वेद को अपौर से मानते हैं यह अपौर सेवादी कौन है अपौर से मानते हैं नैयायिक लोग ये लोग क्या मानते हैं अपौर से मानते हैं मीमांसक भी अपौर से मानता है वेदांती भी अपौर से मानता है पर उनकी पौर से मानने के सबके अलग अलग लक्षण हैं एक लक्षण नहीं है माने यह जो कोई कहता है कि वक्ता की उपलब्धि ना होने के मीमांसक लोग कहते हैं कि कोई वक्ता उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए क्या है अपौर से यह वेद है परंपरा से स्मर स्मर्यमाण इसलिए वेद अपौर से है वेदांती लोग कहते हैं और से वस्तु वह होती जो सजाती उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण जिसका होता है वह पौर से होता है अभेद में क्या यथा पूर्व कल्पयत जैसे पहले आन पूर्वी थी उसे अभियान पूर्वी है इसलिए ये क्या है अपौर से है जहाँ सजाती उच्चारण सापेक्ष उच्चारण जब रहेगा वो क्या कहलाएगा अपौर से कहलाएगा उनकी यह परिभाषा है और यह कहते हैं कि जैसे तस्य निश्वसितम वेदा वो भगवान के निश्वास भूत वेद हैं ये कहते हैं यस्मिन अदृष्टि कृत वृद्धि रूप जायते जिस अदृष्ट में प्रयत्न लगे वो तो पौर से है और जो सहाजता हो वह अपौर से है तो यह श्वास का व्यक्ति की सहाजता है इसमें कोई प्रयत्न अलग से नहीं करना पड़ता है इसीलिए ईश्वर को प्रयत्न मंत्रा ही वहाँ श्वास रूप में चलते हैं इसलिए प्रयत्न मंत्रा उनकी अभिव्यक्ति हो रही इसलिए वो क्या है अपौर से है अर्थात उनका एक सूत्र है यस्मिन अदृष्टे मन यस्मिन अदृष्टे पी कृत बुद्धि उपजायते तत्पौर सेयम तद भिन्नम अपौर से मन दृष्टि इव अदृष्टि मन दृष्ट की तरह अदृष्ट में वस्तु में जहाँ पर कृति बुद्धि उत्पन्न होती है जो बुद्धि पूर्वक किया जाता है वह तो क्या होता है पौर से और जहाँ बुद्धि पूर्वक सांस बुद्धि पूर्वक ले रहे हैं इसलिए क्या हो गया अपौर से यही अलग अलग दर्शनों की परिभाषा है किसी के मत में क्या पौर से है सजातीय उच्चारण आपेक्ष उच्चारण होने से क्या है पौर से मन यथा पूर्व काल में जो आन पूर्वी थी यथा पूर्व कल्पयत इस श्रुति को प्रमाण देते हैं वेदांती लोग जैसे पूर्व में जगत था वैसे बनाया तो पूर्व काल, काल्पनिक आन पूर्वी समान आन पूर्वी घट दिया वेद पूर्व कल्प में जो आन पूर्वी थी गणा गणा ऐसा लिखा था उसी आन पूर्वी की समान आन पूर्वी इस समय पर भी है इसलिए वेद क्या है अपौर से है क्या है अमीमांसक लोग कहते हैं संप्रदाया विच्छेद सत्य अस्मर्यमाण कर्तकत्वात अपौर से माने यह संप्रदाय अनादि काल से चला विच्छेद हुआ नहीं इसका मतलब इनका कोई कर्ता ही नहीं मिल रहा है अतः कर्ता की स्मरण न होने के कारण ये क्या है अपौर से है कौन वेद अपौर से है अपौर सेवादी वेदांति भी है अपौर सेवादी सांख्य भी है और अपौर सेवादी कौन हुआ मीमांसक पर तीनों की परिभाषाओं में भेद हो गया एक ने कहा जहाँ पर सहजता जो वस्तु होती है बिना बुद्धि पूर्वक जो की जा रही है इसलिए वो क्या है वह जो बुद्धि पूर्वक की जाएगी वहाँ कहलाएगी पौर से और जो बुद्धि पूर्वक नहीं की जाएगी जो सहजता स्वास्थ्य प्रश्वास जैसे वो क्या हो गया अपौर से हो गया उसी प्रकार उन्होंने कहा यथा पूर्व कल्प इस श्रुति के आधार पर उन्होंने कहा कि जो पूर्व काल पूर्व कल्प के समान आन पूर्वी वाली आन पूर्वी इस कल्प में भी है इसलिए वेद क्या है अपौर से है और उन्होंने कहा कि इस संप्रदाय के अविच्छेद अविच्छेद विच्छेद मान नाश संप्रदाय के नाश के बगैर सतत उच्चारण परंपरा चली जा रही है इसके कर्ता को अता पता नहीं चल रहा इसलिए क्या है अपौर से है इस ये सब पौर से मन ईश्वर ने बनाया है किसने बनाया है ईश्वर कृत मानते किसकी तरह बना है इसलिए ये सब पौर से है व्याक आप शब्द नित्य है तो अपौर से ही कहेंगे क्या कहेंगे जब शब्द है तो नित्य है तो कुछ तो बनाया नहीं तो अपौर से हो गया ऐसा हा वो कहने जा रहे हैं आज इस पर इसलिए उन्होंने सबसे पहले लिख रहे हैं अपौरसीय वेद वाक्य जनित मैंने जो वाक्य अर्थ ज्ञान जो स्वतः प्रमाण क्यों है क्योंकि अपौरसीय वेद वाक्य से जनित है अपौरसीय मानने में क्या होता है उस वेद में पुरुष में द्वेष ईर्ष्या होता है और वेद अपौरसीय हो जाएगा तो राग द्वेष से रहित हो जाएगा क्योंकि रागता होगी तो किसी के लिए हम उपकार कर देते हैं और द्वेष होता है तो अपकार कर देते हैं और भगवान क्या कहते हैं राग द्वेष से रहित हैं इसलिए वेद को अपौर से मानना अत्यंत आवश्यक अन्यथा वो राग द्वेष ग्रसित हो जाएगा इसलिए कहा था अपौर से वेद वाक जनितत्व जायमान किम स्वतः प्रमाणम क्यों है तो दो हेतु दे रहे हैं सकल दोषा शंका मुक्तम क्योंकि सकल जो दोष की आशंका ये तो वेदापौर से यह अतः उसमें कोई राग द्वेष की संभावना है नहीं है इसीलिए कहा सकल दोष आशंका से विनुर्मुक्त हेतु दे है मन वेदापौर मन अपौर से वेद वाक जनित स्वतः प्रमाणम कुतः तो सकल दोषाशंका विनुर्मुक्ते है स्वतः प्रामाण्यम पंचमी है ना इस जगह तृतीय इधर पंचमी मैंने उन्होंने कह दिया मैंने सकल जो दोष आशंका से विनिर्मुक्त होने के कारण जनित जो वाक्य वाक्यार्थ जनित जो वाक्य ज्ञान है माने वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान है वो कैसा है हमारा है स्वतः प्रमाणम माने स्वतः प्रमाण है क्या प्रमाण है हमारा स्वतः प्रमाण है उसी में हेतु दे दिए वही लिखने जा रहे हैं अतः दोषाशंका विनिर्मुक्त होने के कारण वैसे लिख दो हेतु दिया क्या क्या दिया पहले एक दिया पहले वही सकल दोष आशंका विनिर्मुक्ता क्योंकि आशंका कहाँ होती पुरुष में होती उसमें कोई है ही नहीं भ्रम प्रमाद आलस्य ये सब दोष होते हैं भ्रम के कारण आदमी उल्टा सीधा बोल जाता है अनावधानता के कारण उल्टा सीधा बोल जाता है लिप्सा के कारण उल्टा सीधा बोल लोभ के कारण अब वो क्या है आ, इसके कारण परमात्मा में कोई भी दोष सब पुरुष में दोष होते हैं उससे रहित तो होते उसमें दोष की आशंका ही नहीं है अतः तस्या मुक्ते है अतः इसलिए क्या कह दिया इसलिए आशंका बिंदुर मुक्ते है आशंका से रहित तो होने के कारण किससे है ये सकल जो दोष की आशंका उस आशंका से मुक्त होने के कारण युक्तम स्वतः प्रामाण्यम कस्य वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान से वही कह दिया इति युक्तम भवती किम उक्तम भवती स्वतः प्रामाण्यम उक्तम भवती इसलिए भगवान की वह सहज श्वास है तस्य एतस् महता निश्वास भूतो अयम वेदा निश्वसित वेदा ऐसा प्रधान ऋग वेद युर्वेदा साम वेदा तो निश्वास होने से वह कृत पूर्वक नहीं है इसलिए नित्य है अब इन्होंने कैसे यह वेद कैसे उपलब्ध हुए इनको उस पर ये तो वेद की बात कह दी अब हमारे इतिहास कैसे प्रमाण होंगे हमारा स्मृति कैसे प्रमाण होगी महाभारत कैसे प्रमाण होगा उसके लिए करने जा रहे हैं यथा हमारा स्वतः प्रमाण कौन है वेद है उसी प्रकार यह वेद मूलक है कि मूलक है सब स्मृतियां इसलिए वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण अपि ज्ञानम माने वेद मूलक इतिहास भी है वेद मूलक स्मृति भी है इसी इन सब के मूलक होने के कारण ये भी सब क्या है हमारे प्रमाणम इनका ज्ञान इति जन्यम यद वाक्य जन्यम वाक्यार्थ ज्ञानम तदपि प्रमाणम कथम प्रमाणम स्वतः प्रमाणम युक्तम भवती अब अंतर यह है कि क्या कहते हैं पहले यहाँ स्मृति स्मृति अनुमान मूलक है कि मूलक है इसीलिए कहा विरोधे सती अनपेक्षम सद असति ही अनुमानम हेतु दर्शना इत्यादि के द्वारा इन्होंने उसका निराकरण किया सब पूर्ण क्या है वेद मूलक है कि मूलक है इसीलिए उन्होंने लिखा वेद मूलक जो स्मृति इतिहास प्राण जितना वाक्य जनित ज्ञान है और सब का सब क्या है हमारा प्रमाण है क्यों वेद मूलक उसमें वेद मूलक होने के कारण उसी पर आगे लिखने जा रहे हैं कि इनको जो कपिल स्मृति है ये भी क्या है प्रमाण है तो सर्वप्रथम जो कपिल महर्षि थे उनको किसने दिया किसने इनको पढ़ाया क्या पढ़ाया सांग शास्त्र उस पर सर्वप्रथम ये लिखने जा रहे हैं जो हमारा है तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा मनवादि भीर वेदम अधित्य क्या मनवादियों के द्वारा वेद को पढ़ करके फिर उन्होंने सब कुछ लिखा है कपिल मुनि ने कि कैसे लिखा है तो एक यानी से वाक्य ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे ज्ञानैर विभर्ति सर्वप्रथम भगवान ने क्या किया परमात्मा ने कपिल महर्षि को बनाया और फिर ज्ञानैर विभर्ति और उसको ज्ञान से परिपूर्ण कर दे भी पालन पूर्ण योग विभर्त इति इस श्रुति के द्वारा पता चलता है कि भगवान ने ही साथ साथ क्या किया उनको ज्ञान संपन्न ही उनको पैदा कर दिया प्रकृति शास्त्र इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम कह दिया आदि विदुषाह कपिल प्रथम जो विद्वान कौन थे कपिल कल्पाद कल्पांतराधीत श्रुति स्मरण संभवा माने हर कल्प में होता रहता है था पूर्व कल्प तो उन्होंने कल्पांतर में पुस्तक पढ़ी थी और इस कल्प में उसका क्या हो गया स्मरण हो गया जैसे आज पढ़े थे कल जगे तो आपको स्मरण हो जाता है दृष्टान देंगे इसे व्यक्ति सोता है सुप्तोत्थित जागरण दिनांतरे जो अत्यंत अभ्यस्त वस्तु है ऐसा क्या हो जाता है स्मरण हो जाता है उसी प्रकार कल्प एक तरह का रात्रि की तरह हो गया दूसरे कल्पांतर में जगा तो जगे तो पूरा पहले कल्प वाला सब उनको वेद का स्मरण आ गया वही कहने जा रहा आदि पुरुष से कपिल से कल्पाद कल्पांतराधीत मन जो अन्य कल्पम कल्पांतरम तत्र अधीता या श्रुति उसमें जो पढ़ी जो वेद पढ़े थे उसका स्मरण संभव क्योंकि संस्कार परम है संस्कार जन्म ज्ञानम स्मृति ही स्मरण हो गया मैंने प्रलय के विवधान होने पर भी उनको क्या हो जाता है स्मरण हो जाता है इसी ने कहा प्रलय होगा तो वेद स्मरण नहीं होगा हो जा कल्पांतर अतीत कल्प में अनुष्ठान होना पर भी बहुत बीत जाने पर भी कपिल मुनि को क्या हो गया उन्होंने को स्मरण कैसे हो गया तो आगे दृष्टान देने जा रहे हैं तो खंडन नहीं हो रहा है कपिल जी कर रहे हैं कि दुखद रहे के लिए हाँ तो वेद में उन्होंने दो वेद में तीन भाग है हम्म। एक कौन वाला है कर्म कांड अपात तो ये कहते हैं जो कर्म कांड वाला है वह अभिशुद्ध क्षय से युक्त है उसको से नहीं आत्म कल्याण होने वाला है किससे होने वाला है जो उपनिषद वाला है उससे क्या होगा विवेक विज्ञान पैदा होगा उसके बाद मुक्त हो जाएगा दुख की निवृत्ति दुख का जो निवृत्ति है वही है सुख है इसलिए दुख और सुख में क्या है विरोध है क्या कहा था दुख सुख में विरोध है क्या है ना एक है दोनों यही तो पहले हम लोग ये बता के आए हैं तो पहले या शुरू में नहीं द्वितीय कार्य का बताए शुरू में किसे बता दिए द्वितीय कार्यक्रम क्या बताया गया कर्म कांड से उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कहोगे कि संपूर्ण अनश्रविक अविशुद्धक्ष युक्त, युक्त है तो श्रुति कहती है क्या आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ऐसा क्या विचार होगा और, और नान्या पंथे विदिताय न तमे विदित्वा नान्या पंथा विद्यते अनाय माने उसी के अतिरिक्त तो कोई मार्ग भी नहीं है वेद मार्ग के अतिरिक्त तो ये कई सब श्रुतियां विरुद्ध हो जाएंगी तो उन्होंने कहा यहाँ जो अविशुद्ध दीक्षया तिशय जो विशेषण दिया है ये कर्म कांड वाली की जो कहते पशुमान लभेद ऐसे जो याग आदि हैं जो हमारे सोम याग आदि है उन्होंने क्या कहा अप, अपामा सोमम अमृता भूम क्या कहा था सोमम सोमम का भूम मने सोमम अपामा कहाँ का रूप है मन उत्तम पुरुष का बहुवचन मैंने पीत बनता देवतान जता सोमम पीत बनता पिए है अतएव ते अमृता अभूम मन वो अमर हो गए तो यहाँ अमृत से क्या लेना बताए थे आभूत संपलस्थाई क्या आभूत संपलस्थानम अमृतत्व भाषते त्रैलोक त्रैलोक उपस्थिति को यम आ पुनर्मार उच्चते गोस्वामी तो याद करते नहीं आप पुनरादि पुरुष से कपिल से कल्पादो कल्पांतराधीत श्रुति स्मरण संभव है कैसे हो जाएगा दूसरे युग में पढ़ा दूसरे युग में स्मरण कैसे हो जाएगा यदि कोई संदेह हुआ ना लोगों को उस पर लेखने सुध सुप्त प्रबुद्धस्व इव जैसे पूर्व सुप्तम पहले आप सो गए और जब जगे तो क्या ये भूल जाएंगे जो याद किए थे वो एक पूर्वम सुप्त पश्चात प्रबुद्ध से अर्थात जैसे हम पहले दिन में पढ़ते हैं दूसरे दिन में पहले दिन पढ़े हुआ को हमने यदि समित अर्थ हो गया है दूसरे दिन क्या हो जाता है हमको पूरा स्मरण हो जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो गया उनको स्मरण हो गया कल्पांतर में पढ़े थे और कल्पांतर में उनको याद हो गया तो कौन बड़ी आश्चर्य का विषय है एक दृष्टांत देने जा रहे हैं इतना ही नहीं पुराण का एक दृष्टांत देने जा रहा है बहुत सुंदर क्या तथा चा आवट जयगीस संवाद है यह दो ऋषियों का जो संवाद यहाँ से बड़ा सुंदर लिखा जयगीव्यस्य संस्कार साक्षात कारात माने संस्कार साक्षात भगवान जयगी सभ्य थे उनके संस्कार के साक्षात्कार के दससु महासर्गेशु भगवान जयगी सभ्यो ये लिखा ना भगवान जयगी सभ्य दशस महासर्गेशु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यता माने दस सर्गों में अपने जन्म ले रहे बार बार मैंने दस सर्ग पर्यंत क्या किया उन्होंने जन्म ले रहे हैं हाँ, मैंने दस कल्प तक बता रहे हैं महासर्गीसु जन्म परिणाम का क्रम का अनुस्मरण करते हुए विवेक जम ज्ञानम प्रादुर्भ उनको विवेक ज्ञान पैदा हुआ और कुछ भूले नहीं वही लेकिन भगवान अवाट्य तनुधर मैंने भगवान अवाट थे उन्होंने जब शरीर धारण करके चले तम उवाच मन जयगिर मुनि से बोले दशसु महासर्गेशु भव्यवात अनभूत बुद्धि सत्व त्वया आप दस सर्ग में पैदा हुए हैं और तुम्हारी बुद्धि अनभूत ढकी नहीं है तो क्या आप क्या क्या किस सर्ग में पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ बता रहे हैं अतः अनभूत बुद्धि होने त्वया नरक तिरक संभवम दुखम संपस्यतम नरक की तरह तिरक जीवों की तरह इस दुख को तुम देखते हुए किम देव मन स्वेद पुनर न सुख दुख हो किम अधिकम उपलब्धम नरक आदि में भी दुख है अब बार बार इस मानव शरीर में तुम उत्पन्न हुए तो इन सुख दुखों में क्या अधिक उपलब्ध हुई तब उसने कहा जयगी जयगी सभ्य ने किससे पूछा मैंने अवाट महर्षि ने जयगी सभ्य से पूछा तब जयगी सभ्य के प्रति बोलना शुरू के दो लोग हैं एक अवाट्य है एक जयगी सभ्य है तो अवाट महर्षि ने पूछा जयगी सभ्य महर्षि से कि आप दस सर्गों में जीवित हैं इनके लय प्रलय का अनुमण उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं फिर भी आपका स्मरण मतलब जो साक्षात्कार भूला नहीं है आप इनमें सब कुछ देख रहे हैं कि जो नरक भी देखा आपने <clears throat> वहां के जीवों को भी देखा और आपने वहाँ का दुख भी देखा और देव मनुष्य में बार बार आप स्वयं उत्पन्न हुए ऐसा करते हुए यहाँ के सुख और दुख में उन दोनों उपलब्धि में क्या अंतर है किसने पूछा अबाट महर्षि ने किससे जय गई वे सभ्य ऋषि से तब जयगी सभ्य ऋषि बोले जयगी सभ्य उवाच कह दशसु महासर्गेशु यद्यपि मैं दस महासर्गो में मुझे कुछ भूला नहीं था मैं उत्पन्न होता रहा मेरी बुद्धि एकदम सही थी न दुखम सता सब देखते देखे कह कश्चित अनुभूत सर्वम जो कुछ मैंने देखा वो सर्वम दुखमयम प्रत्यय सब दुख में ही देखा मैंने उसके दुख में हमारे दुख में कोई विशेष अंतर सब दुखमय था वही कहने जा रहा तथा अबाट जयगी सभ्य संवादे यह कहने जा रहा है यह संदर्भ ग्रंथ कहीं का है इसलिए कह जयगी सभ्य मुनि ने क्या कहा संवादे भगवान जयगी सभ्यो दस महाकल्प कल्प वर्ती में मतलब दस महाकल्पों में वर्ती में मतलब जन्म लेने वाले दस महाकल्प में रहने वर्ती में रहने वाला जो जन्म स्मरण दस महाकल्प में जो जन्म लिए थे उन सबको क्या था स्मरण होने के कारण स्मरण आत्मना हुआ अपने विषय में मतलब बोले आत्मने उवाच मैंने आवाट के लिए उन्होंने क्या बोला दशसु महाकल्पेशु विपरीत विपरिवर्तमान मया बार बार में बदल रात मया किम दृष्टम सर्वम दुख मयम एवं दृष्टम इससे पता चलता है कि कल्पांतर का संस्कार कल्पांतर में रहता है इसलिए आदि कल्प में जो उन्होंने पढ़ा था अब सर्ग के आदि में कपिल महर्षि को सब स्मरण आ गया ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है ऐसा कई गीता प्रेस की पुस्तक निकलती है उसमें आप पढ़िए जन्मांतर के बारे में बहुत आता पुनर्जन्म के बारे में भगवान गीता में गीता में अर्जुन से क्या कहा है बहून में व्यतीतान चार जुन तान्य हम वेद तप बस ये तो कुछ भी नहीं बोल पाता न गीता न भागवत न साथ न बीतने वाला है काशी में ये आपकी स्थिति है तो कल इनका इनको विश्वास नहीं होगा इनका एक कल ग्रंथ है ना आप्त ग्रहणे न अब इन्होंने कहा आप्त श्रुति राप्त वचनम आप्त ग्रहण क्यों किया है इसलिए कहने जा हमने आप्त का वचन प्रमाण है क्या है हमारा आप्त माने प्राप्त भी कहा था युक्त जो वचन है वही हमारे प्रमाण है हाँ वही कहा था ना इसीलिए उन्होंने कहा आप्त ग्रहण के करने कारण ये जो चार व्यक्ति हैं साक्ष्य भिक्षु कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं को साक्ष्य सिंहासन में आरूढ़ होकर जो अवत, अव, क्या हुए आए उनका लिखा साक्ष सिंहासा विधाना कौन शुद्धोधन नृपतनय शुद्धोधन के पुत्र कौन थे अरे राम शुद्धोधन के कौन पुत्र थे बुद्ध इसलिए वह उनके पिता को बोलते थे साक्ष सिंहासन विधान मैंने साक्ष राजा थे इसलिए उनका नाम हुआ साक्ष भिक्षु बौद्ध भिक्षु इनके लिए आए एक बड़ा सुंदर से लोग लिए इनका क्या स्वभाव होता है इनकी प्रकृति क्या होती है वो चार होते हैं सौत्रांतिक परिभाषिक और योगाचार और माध्यमिक उनके लिए के बड़ा सुंदर श्लोक ले कृतिम कृति ही कमंडलुर मौंडम चीरम पूर्वाण भोजनम संघो रक्तांबरत्वचा शिश्रिय बौद्ध भिक्षु भी उन्होंने उपदेश दिया है कि कैसे बौद्ध भिक्षु क्या करें उनका क्या है कृति कमंडलू रखें एक और मुंडन होना चाहिए उनका चीर वस्त्र फटा वाला जो कपड़ा उपाय नहीं उसको चीर वस्त्र कहते हैं और पूर्वाण भोजनम यानी सारा दिन भोजन करें माने मध्यान्ह के एक बजे के पहले भोजन के पूर्वाण भोजनम और संग माने समुदाय उन्हें क्या है और रक्ताम्बरत्वम उन्हें लाल कपड़ा पहने ऐसा बुद्धवीर शिश्रीय बौद्ध ने धारण किया उनके लिए आकाश और दूसरा कौन है साक्ष्य एक हो गया भिक्षु और दूसरा निर्ग्रंथिका क्या लिखा तुम्हारे में निर्ग्रंथक ग्रंथेभ्य वेदादि शास्त्रेभ्य निष्क्रांता त्रयी बाह्या माने जो तीन है वेद एकदम हमारे बंधा ग्रंथी माने वेद उससे जो निकल चुके हैं कौन हो गए दिगंबरा जैना कौन लोग हो गए उनका नाम है यहाँ निर्ग्रंथिक और संसार मोचकम जो संसार से मरना ही मुक्ति है चार वाक का संसार है संसार मोचक कौन है उनका सिद्धांत कि संसार मरे की मुक्ति हुई नहीं क्या उनका सिद्धांत है शरीर छूटा की मुक्ति हुई भस्मीभूत चलिए इनको एक वो भी नहीं मालूम है क्या है रणजी को हटा दिया ये सब क्या है कौन कौन साग भिक्षु कह करके बौद्ध मुनि को निर्ग्रंथ कर करके जैन को संसार मोचक कह करके मन चार वाक आदि से वाद वही कहने इतेसाम ये आगम भाषा आगम की तरह प्रतीत हो रहे हैं आगम नहीं है ये आभास माने प्रतीति भ्रम है इति आगम भाषा परिहृता भवंती आप्त ग्रहणेन वाक्य जब आप्त ग्रहण कह दिया तो इन वाक्यों की क्या हो गई व्यावृत्ति हो गई ये वाक्य क्या नहीं हुए प्रमाण नहीं हुए एक वाक्य जिन ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ वही कहने जाए वेद वाया स्मृतया शकाश कुदृष्टया सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तपो निष्ठा ही स्मृतया ये कह दिया अयुक्तनता अयुक्त चाहिए क्यों अयुक्त है ये तो उनमें युक्ति दे रहे हैं क्यों अयुक्त है तो पहला हेतु दिया बिगानात पहला हेतु क्या है बिगान ये लिखा ना बिगानात दूसरा हेतु दिया है विच्छिन्न मूलत्वात तीसरा हेतु दिया है प्रमाण विरुद्धार्थाभिधानाचा कितने हेतु दे रहे हैं क्रम से पहला कौन दिए बिगानात माने जो बिगानात और विच्छिन्न मूलकत्वात और दूसरा क्या कश्चिदई कश्चिदई कश्चिदेव परिग्रह परिग्रहात कुछ लोगों ने परिग्रह किए वो मले छिकाएंगे आगे चल के बिगान शब्द का अर्थ क्या कहने जा रहा है बिगानात माने विरुद्धम गानम इति बिगानम मान वेद विरुद्ध गान किया है इसलिए निंदनीय है तीसरा क्या कहने विच्छिन्न मूलत्वात इनमें कोई मूल नहीं हमारी स्मृतियों में वेद मूल है इनमें कोई अपने तप से कल्पित की है इनमें कोई मूल नहीं है इसलिए प्रमाण नहीं है विच्छिन्न मूलत्वात अयुक्तत्व और प्रमाण विरुद्धत्वाचा माने प्रमाण से सर्व प्रमाण जब चलते हैं तो कसने में आती नहीं इसलिए प्रमाण विरुद्ध होने के कारण ये क्या है क्या है हमारी कैश्य देव मिलेक्षाद भी पुरुषाप सदई तीन विशेषण देना उसमें कौन कौन दिया पहले मलेक्षा क्या लेकर जा रहे हैं एक दिया कैश्य कैसे क्लेश कैश्य है मलेक्षाद भी फिर दूसरा विशेषण क्या दिया है हाँ तो उसका अर्थ कहते हैं पहले मलेच शब्द की उन्होंने एक परिवार बड़ी सुंदर लिखी आज याद कर लीजिए स्वामी कहते हैं गोमांस खादको यस्तु विरुद्धम बहुभाषते सर्वाचार विहीन मिलेक्ष इत्यभिधीयते ऐसा जब बोलोगे तब ना आपका सब होगा युग में तो जो गोमांस खाने वाला है विरुद्ध उल्टा सीधा बोलने वाला है संपूर्ण आचार से हीन है उसे मिलेक्ष कहते हैं तो यह मिलेक्ष बौद्ध तो ऐसा नहीं है अहिंसक इसलिए मिलेक्ष सदृश है यहाँ क्या जोड़ना है मलेक्ष सदृश उसके लिए जोड़ना ये बौधायन महर्षि ने वचन कहा है किनका है बौधायन ये मलेक्ष कई परिभाषा ये मलेक्ष सदृश है ये ऐसा नहीं करता है क्योंकि वह अहिंसक है तो ये नहीं कर देगा आजकल तो खा रहे हैं बौद्ध क्या परंतु अहिंसा होने से नहीं खाना चाहिए उनको मांस अभी तो खाने लगे हैं परंतु मूल जो बौद्ध का सिद्धांत उसमें मांस भक्षण निषिद्ध है इसलिए उन्होंने कहा केवल वीर वृद्ध होने के कारण उनको कहा जाता है हाँ, लोग खाते हैं हाँ खा रहे हैं आजकल सब हाँ। अतः हाँ उन्होंने कह दिया इसलिए आव पुरुषेशु अप सदई ही नीचई ही पशु कल्पई यहाँ पुरुषाप शब्द का अर्थ क्या जो पुरुषों में अत्यंत जो नीच माने पुरुष कल्प है नहीं पुरुष उल्टा सीधा जो विचार करने वाले उनका नाम है पुरुषाप सदई ही मिलेक्षाद भी कश्चयी ही ये सब जो स्वीकार किया इसलिए क्या है उन्होंने कहा पशु प्राय हुई लिख देखो पशु उसका अर्थ किया अपशब्दयी का अर्थ क्या नीचई ही अतएव पशु कल्प ही एवं विधई ही परिगृही तत्वाद अयुक्तत्व बोधव्यम इनके द्वारा यह गृहित है अतएव अयुक्तम बोधव्यम इसलिए क्या है अयुक्त है कौन अयुक्त है यह जो अमन साक मुनि इत्यादि के द्वारा है या किन के द्वारा मिलेक्ष ही पुरुष अपशब्द ही किम पशु प्राय ही परिगृहितवाद अयुक्तत्व बोधव्यम इसलिए इन अयुक्त है इसलिए हमने लगा है युक्तम हमने कहा है अतः युक्त वाला प्रमाण वचन अयुक्त वाला हमारा प्रमाण नहीं है तू शब्द मान आप श्रुति राप्त वचन मेव उन्होंने का तू शब्द से क्या लेना है अनुमानाद व्यवच्छिन्नति क्योंकि वैशेषिक तो अनुमान के अंतर्गत मानता है शब्द प्रमाण को बौद्ध भी क्या मानता है शब्द प्रमाण को अनुमान अंतर्गत इसलिए उसे वैशेषिक की अपेक्षा विशेषता बताने के लिए इस श्लोक के अंदर क्या रखा है तू आप श्रुतिर आप वचन में तू तो तू शब्द का प्रयोग क्यों किया तो उन्होंने कहा कि यह हमारा जो शब्द प्रमाण है वो अनुमान से भिन्न है अनुमान अंतर्गत नहीं है इसके अंतर्गत नहीं है वह तू शब्द न मन कारिकायाम तू शब्दोच्चारण न अनुमानात व्यक्षनती किम व्यवच्छिन्नति अनुमान शब्द प्रमाणम व्यवच्छिन्नति मन शब्द प्रमाण अनुमान अनुमान से शब्द प्रमाण भिन्न है क्या है भिन्न है अब यह विचार शुरू करने जा रहे हैं कि शब्द प्रमाण अनुमान से भिन्न है क्योंकि अनुमान में किसकी आवश्यकता होती है व्याप्ति ज्ञान की अनुमान में हेतु चाहिए पक्ष धर्मता अनुमान से बलद्वयम व्याप्ति ज्ञानम पक्ष धर्मता चा जब व्याप्ति ज्ञान होगा पक्ष धर्मता होगी तभी अनुमान अनुमान कहलाएगा और यह दोनों नहीं हुआ तो अनुमान अनुमान नहीं कहला पाता है जो तो सर्वप्रथम बताने जा रहे हैं जो जो वाक्यार्थ है उस वाक्यार्थ का किसी लिंग के साथ संबंध नहीं है जब लिंग के साथ संबंध नहीं तो व्याप्ति ग्रह तो अनुमान में अंतर्भाव नहीं हो सकता है वही कहने यहाँ लिख रहे हैं यहाँ जो शुरू कर रहे हैं उस अनुमान के अंतर्गत नहीं है अनुमान से भिन्न है इस वाक को दिखाने के लिख रहे हैं वाक्यार्थो ही ही अवधारण माने वाक क्या जो होता वह संसृष्टार्थ ज्ञापक होता माने संबद्धार्थ का बोधक होता ज्ञापक माने बोधक जो वाक्य होता है वह संसृष्टार्थ का क्या होता है ज्ञापक वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान होगा और वाक्यार्थ ज्ञान से होगा शाब्द बोध वाला प्रमारूप इसलिए उन्होंने लिख दिया ज्ञापक जन्न जन्न करना है वाक्य से जन्म हुआ वाक्य जनित ज्ञान वो हमारे यहाँ क्या हुआ प्रमाण हमारे मतलब सांख्य में और हाँ, उससे जायमान होगी प्रमा उस इसलिए इसका क्या प्रयोग किया हम लोगों ने वाक माने संश्रिष्टार्थ ज्ञापक कौन होता है वाक्य होता है अतः आप वाक्यवात वाक्यांतर्वत यह किसी ने अनुमान करना चाह रहा था कोई वाक्यम संशिष्टार्थ ज्ञापकम कुतः वाक्यवात वाक्यांतर्वत इति परस्पर पदार्थ रूपो वाक्यार्थ एव प्रमेय अनुमान प्रमेय मेय मन प्रमेय ऐसा जो कह रहे थे उसका यह खंडन करने जा रहा तद असंभवी वो असंभव है क्यों वाक्य से लिंगत्वा संभवात वाक्यार्थ बोध में हेतु नहीं आवश्यक है वाक्यार्थो ही प्रमेयो न तो धर्मो वाक्यम एन तल लिंगम भवेत पहले पूर्व पक्ष में वाक्य मन वाक्यम संशिष्ट बोध ज्ञापकम कुतः आप्तवाक्यवात वाक्यांतरवत यह पूर्व पक्ष का अनुमान हुआ उस अनुमान के ऊपर ये लिखने जा रहे हैं क्या लिखने जा रहे हैं नहीं अतः वाक्यार्थ प्रमाण ए तत् मन न तद धर्म मन तस्य धर्म मन वाक्य का धर्म कौन नहीं है लिंग नहीं बन पा रहा वही कारण न तो धर्मो वाक्यम मन तद्धर्म हेतु मान वाक्य नहीं है ए न जिस कारण से तल्लिंगम अनुमान के मन तल्लिंग वाक्य लिंगम भवेत जैसे एक दृष्टांत समझ लीजिए पर्वतों में किसका अनुमान करते हम लोग बन्ही का आप यह नियम है कि या जो बन्नीम का बोधयती धूमा उसका संबंध कहाँ करी तो बन्नी के साथ धूम का महानस में महानस में बन्नी के साथ स्वयं संबंध ग्रहण किया ग्रहण करने के बाद जब पर्वत समीपे गच्छति धूमम पश्यन बन्नीम स्मरति कुछ याद ऐसे बात होता है हम्म। अभिच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यन बन्हिम स्मरती बन्नी का स्मरण करता है फिर बन्नी स्मरण स्मरति में स्मरति यो यो धूमवान सा सा बन्हिमान यथा महानसम तदनंतरम भवती अपनी धूमवान अतएव पर्वत बन्नीमान यह अनुमिति पैदा होती है क्या होती है अनुमिति पैदा होती है उसी के लिए यहाँ कहने जा रहा क्रम से सुंदर लिख रहे हैं एक एक कर शब्द का लिखने जा रहे हैं कथम व शब्द का धर्म होगा वही उन्होंने लिखा लिंगम न तो तद धर्मो वाक्यम जैसे उन्होंने कहा जा वाक्यार्थ का धर्म लिंग नहीं है न तो तद धर्मो वाक्यम और जो वाक्य में वह लिंग नहीं रहता क्यों नहीं रहता तो एक नीचे लिखता वो लिखते हैं क्यों नहीं रहता है जैसे हमारा यथा प्रमेय जो बनी हुई उसका धर्म क्या हुआ धूम हुआ धर्म माने साधक बन्ही का जो साधक कौन है हमारा धूम जैसे उसका धर्म उसके आदि तथा धर्म प्रमेय वाक्यार्थ से धर्मो वाक्यन्न जो प्रमेय वाक्यार्थ हुआ इसमें बन्नी हुई कौन हमारी प्रमेय या प्रमेय माने विषय कौन हुआ वाक्यार्थ उस वाक्यार्थ का धर्म कौन नहीं है वाक्य नहीं है वाक्य अलग चीज है वाक्यार्थ अलग चीज है इसीलिए कह रहा है प्रमेय बन्नीर धर्मो धूमो इस प्रमेय बन्नी का धर्म प्रमेय बन्नी से जन जो कौन है धूम है अच्छा धूम और धूमत धुजयो जैसे जो संबंध ग्रहण होता है ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है वही कहने जा रहे हैं अतः हमने वाक्यम न धर्म वही कहना वाक्य क्यों बाकी को लिंग बनाया था उसने वाक्यवाद कहा था ना इसलिए वाक्य उसका धर्म नहीं है कैसे तो घटाने जा रही यथा जैसे प्रमेय बन्नी का धर्म धूम है न था तद्धर्म प्रमेय वाक्यार्थ धर्मो वाक्यम न एन तस्य मेन वाक्य न तस्य वाक्यार्थस्य लिंगम भवेत मान जिसके कारण वह वाक्य वाक्यार्थ का लिंग माने हेतु होता क्योंकि वह वाक्यार्थ का वाक्य धर्म ही नहीं है क्यों नहीं आगे बताएंगे स्वयं न तो तद धर्मो वाक्यम एन जिस कारण से तलिंगम वाक्यार्थस्य लिंगम वाक्यम भवेत वाक्य होता नचा वाक्यम वाक्यार्थम बोधयत तो भाई देखिए धूम और बन्नी के बीच में धर्माने संबंध था बन्नी और धूम के बीच कोई ना कोई संबंध है ना उसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के बीच तो कोई ना कोई तो संबंध होगा आप कैसे कहते हैं कि वाक्य का वाक्यार्थ के साथ धर्म ने संबंध नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हो इसे धूम का धर्म क्या है आपने कहा बन्नी का धर्म माने कौन धूम है तो वाक्य वाक्यार्थ का धर्म क्यों नहीं होगा वही कहना च वाक्यम वाक्यार्थम बोधयत क्योंकि वाक्य वाक्यार्थ को बताएगा तो उन दोनों के बीच कोई न कोई संबंध होगा तो संबंध कोई बताएगा जैसे धूम ने बन्नी ने धूम को बताया तो धूम और बन्नी के बीच में जो धूम बन्नी का जो धूम के साथ संबंध था व्याप्ति रूप संबंध किसका था बन्नी का धूम के साथ व्याप्ति रूप संबंध है परंतु धूम का बन्नी के साथ व्याप्ति रूप संबंध नहीं है बन्नी का धूम के साथ व्याप्ति संबंध है परंतु धूम का बन्ही के साथ व्याप्ति संबंध नहीं है क्योंकि बन्ही अधिक देश में रहती है इसलिए यहाँ पर इसको बोलते विषम व्याप्ति कौन सी व्याप्ति है व्याप्ति तो विषम व्याप्ति में साध का संबंध जो होता है वो धूम में हो सकता है परंतु हेतु का संबंध साध के साथ वही संबंध नहीं हो सकता और समव्याप्ति इस तरह प्रमेयत्व बातचित्व में दोनों हो सकता है क्या हो सकता है दोनों, दोनों का हो सकता है इसीलिए उन्होंने कह रहे हैं न च वाक्यार्थम किम वाक्यम न च वाक्यम वाक्यार्थम जैसे धूम और धूम ध्वज जो हमारा जो बन्नी है इनका कोई न कोई संबंध होता है संबंध के द्वारा लिंग लिंगी भाव होता है उसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के बीच में कोई न कोई संबंध होगा उस संबंध के द्वारा क्या हो जाएगा साध्य साधक भाव हो सकता है वाक्य और वाक्यार्थ में भी लिंग लिंगी भाव हो सकता है उसी पर पूर्व पक्ष मनाने जा रहे हैं न च वाक्यम वाक्यार्थम बोधयत मन वाक्य नपुंसक लिंग है तो बोधयत लगा दे वाक्यम बोधयत वाक्यार्थम संबंधम ग्रहणम अपेक्षते जिज्ञासते मैंने संबंध ग्रहण को चाहेगा वही कह रहा पूर्व पक्ष कौन सा संबंध हो अभी ना अभी अभी तो कह नहीं कह इतना इतना वाच्य ऐसा नहीं कह सकते हो जैसे हमारा पर्वत में जो बन्नी है वह बन्ही क्या कहते धूम पर्वत में बन्ही को बताते हुए पूर्व जो महानास आदि में बन्ही के साथ जो स्वयं संबंधित उसको ही बताता है क्या कराता है पर्वत में बन्ही को बताते हुए वह धूम क्या करता जो महानस में बन्नी और धूम के बीच में जो साहचर रूप जो व्याप्ति रूप जो संबंध था उस संबंध को भी क्या कराता है अपेक्षा करता है वहां पर उस संबंध के ना सबूत नहीं करा सकता है अपेक्षा ये संबंधम तदवत यहाँ पर भी वाक्यम स्वार्थम बोधयत वाक्य भी अपने अर्थ को बताते हुए पूर्वकालिक संबंध ग्रहण की अपेक्षा करना चाहिए जैसे बन्ही पर्वत में बन्ही को बताते यह धूम जो पूर्व काल में महानस में जो व्याप्ति रूप जो संबंध था उसकी उसने अपेक्षा की उसी प्रकार वाक्य क्या करे वाक्य अर्थ को बताते हुए क्या करे पूर्व काल में जो संबंध जो गृहित है उसका उसको क्या करना चाहिए अपेक्षा करनी चाहिए तो कह रहे नहीं कर सकता यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि तो जो नए नए वाक्य हैं उनके लिए दोष दे रखे नहीं हो सकता है अभी नव कवि विरचित जो कोई नया कवि है उस कवि से विरचित जो वाक्य है उसका कहीं संबंध पूर्व में देखा है नहीं देख फिर भी बोध होता है वही कारण वाक्य से अदृष्ट पूर्वस्य यहाँ पूर्व में कहीं नहीं देखा अदृष्ट पूर्वस्य क्यों जब जो पूर्व में दृष्ट होता है उसका संस्कार होता है उसी का स्मरण होता है जब पूर्व में हमने देखा नहीं तो जब अनुभव नहीं अनुभव नहीं तो संस्कार नहीं संस्कार नहीं तो स्मरण नहीं इसीलिए कर वाक्य अदृष्ट पूर्व जहाँ पहले जिस जो अभिनव अभिनव कवि के द्वारा विचित जो वाक्य उस वाक्य का अर्थ हमने पहले ज्ञात नहीं किया है वाक्य से अपूर्व दृष्ट भूत चर वाक्यार्थ बोले उसको वाक्यार्थ का वाक्य के साथ संबंध का उसको अनुभव नहीं था अनुभूत वाक्यार्थ बोधकत्वात फिर भी वह अननभूत वाक्यार्थ का बोध कराता है इससे पता चलता है कि जैसे पर्वत में जो धूम है वह धूम बन्ही की सिद्धि के लिए अन्यत्र धूम का बन्ही के साथ संबंध देखा गया है तब पश्चात सिद्ध करता है ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो अभिनव कवि के द्वारा विचरित जो वाक्य है उस वाक्य का उसने पहले कभी भी संबंध अनुभूत नहीं किया है फिर भी उससे बोध देखा जाता है इसलिए व्यवचरित होगा वाक्य तुम अस्ति तत्र परंतु तत्र पूर्व अनुभूत संबंधत्व नास्ती पूर्वानुभूत संबंध वहाँ नहीं है एतावता वाक्य हेतु के द्वारा क्या नहीं कर सकते हो उसमें संश्रिष्ट ग्या, संश्रिष्टार्थ ज्ञापकत्व की सिद्धि नहीं कर सकते हो वही कहने जा रहे हैं अभिनव अभिनव कवि विरचित वाक्य से अदृष्ट पूर्व से चर वाक्यार्थ अबूध वाक्यार्थ बोध देखा गया है तस्मात आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ये निरूपण हो गया किनका शब्द अब कर एवं प्रमाण सामान लक्षणेशु प्रमाण सामान पहले लक्षण दिया था फिर तत्त विशेष लक्षणेशु ये तीनों के तत्त विशेष लक्षण से उनके रहने पर प्रमाणांतराणी यानी उपमानादीनी किम प्रतिवाद भी अभ्युपीयते तानी उक्त लक्षणेशु एव लक्षणेशु एव प्रमाणेशु अंतर भवंती जो हमने तीन प्रमाण उन्हीं में सकल प्रमाणों का अंतर्भाव होगा कैसे होगा वो कल निरूपण किया जाएगा